वो दो चीजें किताब और सुन्नत है मसाली अरबा नहीं है लिहाजा ये लिखना ही हकीकत हदीस दुश्मनी के अलावा हदीसों तो दुश्मनी अल्लाह हमारे हाथ को बरहम फरमाए पकड़े की शक्ल में ऐसे ले लिया कुछ भी नहीं है सवाल आ रहे वाह इंशाल्लाह करें बहुत सारी बातें होंगी इनको याद है बहुत है बहुत है اللهم